मंद मध्यम अधिकारियों के लिए तो उचित यही होता है कि आप स्थूल से शुरू करके वहां तक पहुंच जाए कोशा इव कोशा अस्यादि उत्तरोत्तर अपेक्षा बहिर्भाव पूर्व पूर्व व्याख्या था विस्पष्टम आख्या था विस्पष्ट रूप से एकदम पुस्तक परिषद में व्याख्यान किया गया है सवाइश पुरुष अन्नर समय इत्यादि मंत्रों से स्पष्ट कहा गया है कहा तैतृय के तैतृय शाखा उपनिषद वल्याम तैतृय शाखा के उपनिषद की वल्लियों में देखने को मिलेगा तेषाम कोशाराम आत्मा उन कोशों का आत्मा है जिस आत्मा से ये न आत्मना पंचावी कोश आत्मवंतो अंतरदमेन जिस आत्मा को लेकर के ये पांचों के पांच कोश भी आत्मा वाले हो जाते हैं आंतरतम सूक्ष्म सूक्ष्मता की तारतम्यता के द्वारा वो जो आत्मा है जिससे सब आत्मान अपने आप महसूस किए अनुभव किए हैं सौ ही सर्वेशम जीव निमित्तता जीव वही सभी न कोशों के अंदर जीव भाव के निमित्त होने के नाते वही उसी आत्मा को हम जीव कहेंगे को असू वो जीव ही कौन है इत्या पर आत्मा वह पर आत्मा यह परमात्मा ही है यह पूर्वम जिसको पहले उसी उपनिषद ने प्रकृत किया था सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मी प्रकृत ऐसा प्रकरण के आरंभ में कहा गया था जिसको उसी को वहां पर कोशों से विशिष्ट करके वर्णन किया उसी को अंत सह करके कर्ण वर्णन किया उसी को बाद संक्रमण प्रक्रिया के द्वारा भी स्वर्ग स्थिति की ओर ले जाने का बात भी कहा गया है और उसी को अंत में जाकर के आनंद मीमांस की पराकाष्ठा आनंद स्वरूप में भी उसी का कथन हुआ है यस्माद स्वप्न मायादिवद आकाशादि क्रमीण रसाधि कोश लक्षणा था जिसने आत्मा का स्वप्न मायादि के समान आकाशादि क्रम से रसादिभूता मन अन्नमय रस कोश रूपा संघात उत्पन्न हुआ ये क्या है आत्माया विसर्जिता इतम इन्हीं को पूर्व कार्यक्रम में कहा था आत्म की माया से वो उत्पन्न है स्वप्रदृश्य देहाधिवत या मायावी रचित देहादि के समान स्वप्न माया दिवक्त कह दिया और आत्माया विसर्जिता निष्मत प्रकरण श्रुतिशा में भाव कथम ऐक्यम एकमत्यम से इत्याशंक्या आत्मा सर्जित थी आपके प्रकरण और प्रकरण क्या था अभी तो चलाया हुआ वो प्रकरण है अद्वैत प्रकरण चलाया और यह श्रुति उन दोनों में अंतर आ गया तब कहते अंतर नहीं है हम संदेह कर दे रहे हैं यहाँ भी क्या क्या तस्मादि तस्माद आत्मा आकाश संभूत आकाश अधिक्रम से और वहां भी क्या कहे थे अपने प्रकरण ग्रंथ में आत्माया विसर्जिता जब बराबर वाक्य नहीं हुआ दोनों की इस ऐक्य मतता है हम प्रकरणकार का श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है इत्युक्तम स्व आत्मा भी यथा जो आत्मा उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने पहले खम का दृष्टान देकर समझाया है तथा संप्रकाशित आत्म आकाश इत्यादि श्लोक ही आकाश और इत्यादि श्लोकों के द्वारा हमने इस आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट प्रकाशित कर दिया है न तार्किक परिकल्पित आत्मत तार्किकों के द्वारा परिकल्पित आत्मा के समान न समझो तार्किक से परिकल्पित आत्मा के समान नहीं का मतलब वो लोग मान रहे पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य है और हम कहते पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य नहीं है तंत परिषदम पुरुषम वेद कहा केवल उपनिषद गम्य है और अन्य किसी भी साधन से गम्य नहीं और वो लोग कहते हैं मन के मन का आत्मा से हो गया तो मन ने आत्मा को जान लिया और प्रभाकर तो कहता है प्रत्येक विषय के साथ आत्मा का प्रकाश हो रहा है कहता है कि वो सब अपनी अपनी अलग अलग बात कहते हैं और कहते तो मन से हम आत्मा को पकड़ सकते हैं हर विषय के ज्ञान के साथ हम मन को देकर मन के द्वारा आत्मा को ग्रहण करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पुरुष बुद्धि ये नहीं है इसका टिप्पण कार दौर कर रहे बुद्धि जनक जो प्रमाणम मन का इंद्रियम तक बुद्धि मन ज्ञान पुरुष निष्ठ जो ज्ञान है उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ज्ञान है ये कार ज्ञान का जनकोण इंद्रिया उन इंद्रियों के द्वारा आत्मा का बोध हो सकता है एक तो यह अर्थ है अथवा यदा पुरुष बुद्धि उद्भावित प्रमाणम अनात्म शास्त्र पुरुष की अपनी बुद्धि से उत्पन्न कर लिया गया जो ऐसा द्वैत निष्ठा शास्त्र उसको कहते हैं अनात्म शास्त्र तदगम्य करके जो मानते हैं वह बिल्कुल उचित नहीं है न्याय विमान सांघ योग और जैन बहुत आदि दर्शनों को पढ़ने से वास्तविक का आपका अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता ये सब केवल आपकी बुद्धि को अग्रता लाने के काम की है इनमें आसक्ति करोगे तो फंसा गए वही इन दर्शनों को क्यों बनाया गया फिर आप गाएंगे क्यों रखा था दर्शन फिर इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आप आए कहाँ से है घर से आप घर से आए हैं भाई और कहा से आओगे घर से तो आए हो और घर में क्या है चारवाकवादी है खाओ पियो मौज करो ऐसा करो यही तो था थोड़ा पूजा पाठ घर में हो गया तो परंपरा समाज में इज्जत के लिए रखना पड़ता कुछ तो करना घंटी बजाएंगे नहीं तो फिर कहेगा बगल वाले क्या है कैसे आदमी है हाँ? आप वो दिवाली फटाखा नहीं फोड़े तो क्या बगल वाला कहे तो ईसाई हो गया लगता है अब मजबूरी में फोड़ना ही पड़ेगा नहीं फोड़े तो काम नहीं चलेगी इसलिए मजबूरी में थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन वास्तव तो में सब गलत एक ही है कमाओ खाओ सब चारवाकवादी हैं ये चारवाकवाद से शुरू कर दिया आपके मन को वाद उठाना पड़ेगा उठा करके उसमें शरीर आत्मवाद से ऊपर उठा करके इंद्रियात्मवाद मनात्मवाद विज्ञानात्मवाद धीरे धीरे बढ़ा देगा आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए सारा दर्शन है ताकि दृश्यत्व ग्रह बुद्धिया हाँ, अरे तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होगी तो आपको कैसे पकड़ में आएगा वो अद्वैत इसीलिए बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए सब दर्शन है यहाँ तीष्ण तो हो गया इसलांत में वेदा और लोग उल्टे क्रम से पढ़ते पहले वेदांत पढ़ते बाद सोचते न्याय पढ़ेंगे घुसेगा नहीं उसकी बुद्धि में इसका ना उसका दोनों में रह जाता है बेचारा पहले हम तो अपने प्रक्रिया लिख रहते पहले ये सब का ग्रंथ तो पढ़ो उसके बाद वेदांत पढ़ना अब जगह की वो भी बेकार ग्रुप टिकती ही नहीं है और तो ग्रुप में शुरू तो कर लेते हैं फिर इधर बलगढ़ मच के भाग जाते हैं सबको जल्दी रहती तीन चार साल में खत्म कर लेना और पूरी प्रक्रिया से जाओगे लघु से लेकर वेदांत तक कम से कम छह साल लगेगा छह सात साल और समय किसके पास कल एक ब्रह्मचारी आया कदा महाराज जी आपके पास समय है हमको पढ़ाने <laughs> मैंने कहा मेरे पास तो सारा जिंदगी रखा है तुमको पढ़ाने के लिए लेकिन तुम अपनी जिंदगी लगा सकते हो क्या पढ़ने मौन तो ही हो गया और कहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम ये तो जिंदगी और पढ़ाने को तैयार है हम हम तो दो तो चार साल पढ़ के जाने वाले हैं उसके दिलों बात यही थी कहने का मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास समय नहीं होता है पढ़ने को पढ़ाने वाले का बहुत समय रखा हुआ है लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं पढ़ने तो चार साल के अंदर विद्वान बन जाना है दसों दर्शन पढ़ जाना है कैसे काम चलेगा ये व्याकरण भी पढ़ना है साथ में साहित्य भी पढ़ना है उधर शास्त्रीय आचार्य भी हो जाना है चार साल में सब कैसे हो जाएगा भाई अरे तुम्हारी अकल नहीं है तुम परीक्षा नहीं दोगे तो कम कितने साल लगता है बताओ शास्त्री आप आचार्य कर दो कितने साल लगाते हो वहाँ पर वहां तो लगाने को तैयार हो सात आठ साल बर्बाद करने को है यहाँ टाइम लगाने को तैयार नहीं और वे कहते हो चार साल विद्वान नहीं बना पाए बताओ उचित है ये बात अनुचित है ना फिर कहती सोच के आऊंगा बोल के गया मैंने शर्त फिर रहेगी जिनकी हम भी पढ़ाते हैं तुम्हें पढ़ते रहना समय की बात किया ना तुमने तो समझ लो फिर तुम भी दो समय पढ़ो वो तो सोचने के वो आएगा नहीं मुझे पता है वो आएगा तो जाएगा कि कैलाश के ज्ञान पिट के इधर उधर पर उड़ करके भाग जाएगा बड़ा पड़ेगा कहेगा हम तो क्या हो ऋषिकेश्वर तपस्या की है बड़ा साल बनारस में परीक्षा दी आचार्य हुआ बस काम का तो उसकी दवा दुकानदारी बढ़िया चलेगी कहा को यहाँ जिंदगी लगाएगा वो ये समस्या है इसलिए कहते हैं कि देखो पुरुष बुद्धि प्रमाण गम्य अर्थ नहीं लग क्यों पुरुष बुद्धि के द्वारा उद्भावित प्रमाण कौन ऐसा परात्म शास्त्र है उसके द्वारा गम्य नहीं होता तद गम्य है ऐसा उनका कहना ठीक नहीं इत्यर्थ है ये इसका अभिप्राय है कहते केवल चैत्र पुरुष मंड दो जगह कर रहे क्या आदमी दो सारे पुरुष यही कह रहे तब तो समन्वयात मेरे ब्रह्मांड दिखा रहे दयोर्दयोर्मधुज्ञानी परम ब्रह्म प्रकाशित पृथिव्यामुदरे यथा आकाश प्रकाशित आध्यात्मिक और आदिदेविक दोनों को उठा उठाकर हर जगह पर विचार करते हुए ताकि आध्यात्मिक में भी वही है आदिदेवी में भी वही है इसलिए अद्वैत ही है ये साबित किया है कहा मधु ज्ञाने मधुकांड में परम ब्रह्म प्रकाशित उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्व्या उदरे चीव पृथ्वी बाह्य विशाल अधिभूत है और कार्य होता उधर है दोनों जगह आकाश है उधर के भीतर भी आकाश है बाह्य पृथ्वी समस्त व्याप्त है आकाश ठीक उसी प्रकार से अधिभूत में अधिदेव में अध्यात्म में अधिदेव में सभी में वही पर परमात्मा ही व्याप्त है ऐसे ज्ञान में कहा गया मधुज्ञान मधुकांडे मृदंड है तो ब्राह्मणे इम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु अस्े पृथिव्यई सर्वाणी भूतानि मधु यम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यम अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयम स योयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम मंत्र स्पष्ट कह दिया ये जो पृथ्वी है सकल भूतों का मधु है सार है इस पृथ्वी इसमें अच्छी पृथ्वी है सर्वाणी भूतानी इसी पृथ्वी के लिए ही सात भूत की उपस्थिति है भूतानी मधु है पृथ्वी के लिए भूत मधु है और भूतों के लिए पृथ्वी मधु है इसलिए जो पृथ्वी में तेज में अमृत में पुरुष अनुभव करता है वो अध्यात्म कहा जाएगा और इस शरीर में तेज में अमृत में पुरुष अनुभव कर रहे हो ये भी है वो अधिदैव है ये अध्यात्म हो गया शरीर में जो तेजमय पुरुष है अमृत पुरुष ये अध्यात्म हो गया पृथ्वी को अभिमान करता हुआ रहने वाला जो तेजमय अमृत पुरुष है वो अधिदैव हो गया तो कहते यो अयम स जो ये अध्यात्म है वही वहाँ अधिदैव बना हुआ है और है क्या कहते हैं अयम आत्मा वो आत्मा ही है इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम यही अमृत है यही ब्रह्म है यही सब छुआ है इस प्रकार से अनेक उठाया एक पर्याय है ये अनेक पर्यायों में समझाया किंच अधिदेवम अध्यात्म च तेजोमयो अमृतमया दो का मतलब अधिदेव अध्यात्म प्रत्येक मंत्र में दो को लिया ऐसा दो दो दो करके अनेकों पर्यायों में वर्णन किया है पृथ्वी आद्यंतर्गत यो विज्ञाता पर एव आत्मा ब्रह्म श्रोमिदी जो पृथ्वी में अंतर्भूत अंतर्गत है और शरीर आदि में अंतर्गत है जो विज्ञाता वही पर एव आत्मा वही पर ब्रह्म परमात्मा है वही सब कुछ है कि दूर दूर आद्वैत क्षात परम ब्रह्म प्रकाशितम यावत पर्यंत द्वैत का क्षय न हो आद्वैत क्षया द्वैत कार्य ब्रह्मोपदेश क्योंकि ब्रह्मोपदेश भी क्या है द्वैत कार्य नहीं है जब तक द्वैत का क्षय नहीं होता जनक का उपदेश देते गया देते गया देते गया जनक कहता है मैं आपको एक हजार रुपया देता हूँ साठ सात में दे रहा हूँ अरे नहीं नहीं मैं दक्षिणा ही ले जाऊंगा भाई तुम्हारी हमारे पिताजी ने कहा था जब तक जिस काम से आए हो वो पूरा जब तक नहीं करोगे तब तक दक्षिणा नहीं देना अभी पूरा हुआ ही नहीं इतने से ब्रह्म ज्ञान थोड़ा हो गया अधिग्रह का तो और आगे क्या बताइए फिर एक और पर्याय बताए फिर दक्षिणा देने लगता है सोचता है कि बस यही अंतिम है करते करते करते आद्वैत क्षय हुआ और स्वयं कहता है क्या कौन जनक अब मैंने अभय पद को अनुभव कर लिया अभय पदम प्राप्त हो सी ऐसे भी कह देता है तब दक्षिणा क्या देता है ये गजर गाय गज नहीं ये तो मैं अपने आप को दे रहा हूँ सारा राज्य भी तुम्हारे लिए अर्पण कर देता हूँ जिसने मेरे को भय प्राप्त करा दिया सर्वस्व अर्पण कर दिया तो कहने का तात्पर्य की आप देखेंगे क्रमशः अनेक पर्याय था किसी भी जब तक द्वैत को पूर्ण में उसने स्वीकार नहीं किया कि वास्तव में द्वैत है ही नहीं जो कुछ है वो अद्वैत है और मयू आत्मा वह ब्रह्म मैं अभय रूप हूँ जब तक जनक को अंदर से अनुभूति होकर स्वीकृति नहीं हुई तब तक छोड़ता नहीं है याज्ञ यही प्रक्रिया है इसलिए कहते थे आद्वैरक्षात परम ब्रह्म प्रकाशित ब्रह्म परमात्मा के प्रकाशन किया है आज आप प्राग अवसित दिया टीकाकार द्वैत कालीन प्राग ब्रह्मोपदेश टिप्पण में प्रधान द्वयोदी द्वैतोक्तिर अविरुद्धा द्वयोधर इत्यादि से द्वैतोक्ति जो है अवरुद्ध समझो क्योंकि साथ के अनुवाद रूप न पुनः प्रतिपादिका वो भी अनुवाद किया जा रहा है अद्वैत का बोध कराने के लिए उसको प्रतिपादन करने में लक्ष्य नहीं हमारा बाधा प्राग अवस्थित अध्यारोपक तो मेरा द्वैतम द्वैत अनुद्य बाध होने से पूर्व काल में अवस्थित जो अत्यारोपित अध्यारोप कार्य में द्वैत है उसी को यहाँ द्वैत दरित से अनुवाद करके कहा जा रहा है न तो मोक्ष का भी दस सकता मोक्ष का भी दो दो रह गया द्वैत रह जाता है ऐसा नहीं है ब्रह्म प्रकाश में क्या प्रकाशित हुआ ब्रह्म प्रकाशित हुआ प्रतिपादित वह क्या कहा समझाया भाई कहते ब्रह्म क्या मधु अमृतम अमृतत्म मधु ज्ञाने मधु से ज्ञान है ना ब्रह्म विद्या मैं ब्रह्म विद्या ही है मधु है वही अमृत है मोद रहित आपके आमोद का कारण है वो आनंद सर्वदा का कारण है विज्ञाते यशिन तादृश मोदन के साधन को बोध किया जाता है जिसमें उसका नाम मधु ज्ञानम मधु ब्राह्मणम नित्य तस्वीर किमें वह इत्या किसके समान है वो देर देर यदा क्या है कदे पृथिव्याम उदरे जीव यथे आकाश अनुमान प्रकाशित लोके तदित्यर्थ जैसा इस लोक में आप देखते हुए पृथ्वी में और उदर में सर्वत्र एक ही आकाश है ऐसा आप अनुमान के द्वारा जिस प्रकार प्रकाशित कर लेते हो उसी प्रकार देव अध्यात्म में रहने वाला वो आत्मा और ब्रह्म प्रत्युत जीव ही ब्रह्म एक है ऐसा अनुभव करना चाहिए ये इसका तात्पर्य नीचे अनुमानों को दिया है सब के सब पहले आकाश का अनुमान कैसे करोगे आकाश है किसको मालूम किसने देखा आकाश को छुआ आकाश को पकड़ाया कभी न चाहता है आकाश को किसी ने कैसे मारे आकाश है, है? तब कहते बात अनुमान से जाना शब्द गुण श्रोत ग्रहण ग्रहण योग्य तो सती श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण श्रोत तू कैसे कह दिया चक्षु का गलत है श्रोत्र ग्रहण योग्य तो सती चक्षु काट देना वहां श्रोत्र ग्रहण योग्य सती बहिरीन्द्र ग्रह जातवत्वात स्पर्शवत इतमान शब्द से गुणत्व सिद्ध है इसे पहले शब्द में गुणत्व सिद्ध किया नहीं आए कौन तो मान लेते हम भी हम भी शब्द को गुण मानते ही आकाश का और शब्द के आकाश का मूल स्वरूप शब्द धर्मात्रा है तो उसके बाद कहेंगे शब्द कहीं ना कहीं आ सकते शब्द क्वचिदाश्रित गुणत्वात रूपवत सामान्यता शब्द का कोई ना कोई आश्रय होनी चाहिए सिद्ध हो गया अब आश्रय कौन होगा पृथ्वी जल तेज वायु काल दिग आत्मा मन ये आठ उनके द्रव्य आकाश को सिद्ध करने जा रहे हैं आकाश को तभी सिद्ध करने जा रहे हैं ना इसलिए इसको छोड़ो नौ द्रव्य में से एक को छोड़ो आठ है उन आठों में शब्द कहीं रह सकता है फिर आकाश को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आठ द्रव्यों में से किसी भी एक द्रव्य का गुण आप मान लोगे शब्द को फिर आकाश की सिद्धि नहीं हो सकती अब सिद्ध करेंगे इसलिए इनमें से किसी में भी नहीं हो सकता इकट्ठे चार को बढ़ा देते ही तो शब्द न स्पर्श विशेष गुणा स्पर्श मैंने पृथ्वी जल तेज वायु चार खत्म इकट्ठे इन द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का गुण नहीं हो सकता क्या अग्नि संयोग समय कारण का प्रभाव सती अकार गुण प्रत्यक्ष सुखवती क्योंकि ये कैसा है अग्नि संयोग असमय कारण का प्रभाव है सभी अग्नि आदि संयोग को लेकर के होते कार्य उत्पत्ति जितने भी होते हैं तो विलक्षण तेज संयोग माना अपने तभी कार्य स्थिति हुई कारण से कार्योत्पत्ति होता है पृथ्वी में जल में तेज में वायु में चारों में भी ऐसा ही हाल है इसलिए अग्नि आदि संयोग रूपी असमवाय कारण अग्नि संयोग सर्वत्र नहीं है अग्नि संयोग संयोग में ही हमेशा समय कारण क्या माना उन्होंने संयोग किसी भी कार्य के प्रति असमय कारण क्या होता है संयोग इसलिए अग्नि आदि रूपा जो संयोग वह है असमय कारण जिसका ऐसे तो हो गया पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे नहीं है शब्द शब्द संयोग रूपी असमय कारण से जन्य नहीं है और दूसरी बात अकार वर्ण प्रत्यक्ष तो और जैसे आप क्या देख रहे हैं पट में जो गुण आप देख रहे हो वो गुण कहा देखा था पहले आपने तंतुओं में कारण गुण प्रत्यक्ष पूर्वक कार्य गुण प्रत्यक्ष किया है आपने सर्वत्र का पृथ्वी जल तेज वायु में लेकिन शब्द ऐसा है कारण गुण प्रत्यक्ष कार्य गुण नहीं है ये तो शब्द स्वयं एक गुण है और वो ऐसा गुण है जिसका कोई कारण निष्ठा गुण पहले होता जैसे लाल रंग है पट में लाल रंग है इस लाल रंग आपने अनुभव किया किस रंग में अनुभव किया इसे पूर्व में धागो में लाल रंग अनुभव करते हो इससे पहले शब्द किसी एक कार्य में आप अनुभव जहां भी कर रहे हो जहां भी आप अनुभव कर रहे हो शब्द को उसका भी कोई कारण है क्या जिससे पहले आपने शब्द को देखा हो ऐसा नहीं है इसे कारण गुण क्या कहते हैं अकारण गुण प्रत्यक्ष दृष्टान दिया सुखवत पाकज रूपा विचारा वाला सत्यंतम आगे ना पाकज रूपाधि में अत्यंतम सत्यंतम कहना पड़ा और पटरूपाधि विचार वारण करने के लिए अकार वर्ण पूर्वक कहना पड़ा जलीय परमाणु रूपाधि विचार वारणा या प्रत्यक्ष कहना पड़ा अकार गुण ऐसा कह सकते थे अकार गुण प्रत्यक्ष कहना पड़ा परमाणु रूपाधि मत वारण करने के ठीक है प्रतिशत तेज वायु में नहीं है कालिका मन में तो मान लो कहीं कहीं अरे शब्दों न का न दिक काल मनसांग गुण दिक काल और मन इन तीन में से किसी के भी गुण नहीं हो सकता विशेष गुण उत्पाद है क्योंकि विशेष गुण होने से रूप के समान इनमें क्योंकि इनमें क्या होता है सामान्य गुण ही होता है दुख में काल में मन में सामान्य गुण ही है विशेष गुण इनमें होते नहीं और सब क्या है विशेष गुण है इसलिए इसका कोई द्रव्य ऐसा ढूंढो जिसमें विशेष गुण हुआ करते हैं ऐसा कौन होगा रह गया आपका से एकमात्र आपका बचा ना भी आप विशेष गुण आत्मा को आत्मा में तो नहीं विशेष गुण होते हैं शब्द में सुनो ना शब्द भी आत्मा में रहता है मान लो कथ नहीं हो सकता न आत्म विशेष गुण बहिंद्र योग्यता ध्रुवत जितने भी आत्मा का विशेष गुण है वह बहिंद्र के योग्य नहीं है और शब्द आपका स्रोत इंद्र के योग्य होने से यह मानना पड़ेगा आत्मा का गुण नहीं है फिर क्या है तो किसका रह गया वो परिशेष अनुमान से ये सिद्ध कर, कर लिया आपने कि ये शब्द आकाश का गुण है इस प्रकार से अनुमान से आप आकाश को जैसे सिद्ध कर लेते हो और उस आकाश को पृथ्वी उधर आदि अनेकों में उपाधि में रहने वाला एकत्व ने भी आप स्वीकार कर दिया इसलिए आकाशम एकम विभू नित्य बोलो कैसे किया उसने इसलिए कि सर्वोपाधि में रहने वाला उस आकर को एक रूप स्वीकार करता है उसी प्रकार हम भी इस आत्मा को मानेंगे किस प्रकार से कर दिया इसलिए प्रकाशित हो लोके जिस प्रकार से अनुमान के द्वारा एक आकाश को आप प्रकाशित कर लेते हो पृथ्वी उदरा सकल उपाधियों में उसी प्रकार से इन सकल कोशों में इन सकल अध्यात्मवादी भेदों में सर्वत्र व्यापक भूता एक निर्गुण निराकर विशुद्ध ब्रह्म की सिद्धि मानना ही होगा इतना श्रुति नाम तात्पर्य इसलिए भी श्रुतियों का तात्पर्य एकत्व में ही आपको मानना ही पड़ेगा क्यों कार्य का आती है अगली तनोरण्यम अभेदे न प्रशस्यते नानात्म निंदते यदेवम भी समंजसम क्योंकि आप जहां भी देखेंगे श्रुतियों में उपनिषदों विशेष रूप से जीव ब्रह्म एकत्व के कथन को बड़ी प्रशंसा किया जाता है जो इसको जान लिया उसका कल्याण हो गया उसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा कह देंगे और जो इसको नहीं जाना वो उसका सत्यनाश हो जाएगा इसी सब जगह बोलते हैं निंदा कर रही जो जीव ब्रह्म के तत्व को नहीं मानता नहीं जानता नहीं अनुभव करता वो भय को प्राप्त कर जाएगा मृत्यु और अभी मृत्यु माप ऐसा ऐसा बोल निंदा ही निंदा कर रखा है भेद बुद्धि को निंदा कर दिया अद्वैत बुद्धि की स्तुति कर रहे हैं और अभेदे न प्रशस्य जीव और आत्मा के अनन्यत्व को अद्वैत के कथन के द्वारा प्रशंसा इस किया गया नारात्म निंदते और जो नाराज है उसकी तो सर्वत्र निंदा की गई है तभी एवं ही समंजसम और वह हमारी पूर्वक द्वितम के तरह प्रकरण अनुसार शुक्त अनुसार सिद्धि हो समत्वात इसलिए युक्त युक्त अर्थात न्याय संगत साबित हो जाता है समंजस में न्याय संगत भावधिक करता है हमारी सिद्धांत एकत्व की श्रुति न्याय संगत श्रुति संगत है न्याय संगत है मानना पड़ेगा युक्तिता शुद्ध निर्धारित जीव से पर से जात्मन जीवात्मन और अनंतम अवयन प्रसिद्ध शास्त्र व्यासादि विश्वती जीवात्मनोरण्यतम अभेदेन प्रशस्यते नानात्म निंदते यदेव ही समंजसम जीवात्मनोरण्यत्व तो जीव और आत्मा मन जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों के एकत्व को अभेदेना मैंने एकत्व रूप ज्ञानतम एक स्वर से एकत्व की एक स्वर से प्रशंसा की प्रशस्त है श्रुत और नानात्म च निंदित और शास्त्र वाले जितने भी नानात्म द्वैत उसकी निंदा की गई जो ऐसा है अतः वह एकत्व ही श्रुति एवं न्याय से संगत मानना चाहिए समंजस यद श्रुत निर्धारतम जीव से परसिया चात्र जीवात्मन और जानने तम अभेदेन प्रशस्तु शास्त्र शास्त्र निश्चय जो आपने युक्ति से श्रुति से निर्धारण कर लिया कि जीव और ब्रह्म दोनों आत्मा एक है जीवात्म हो तुम जीवात्म परमात्मा का एकत्व तो का निश्चय कर लिया श्रुति से और युक्त उसी को अभेदेन प्रशस्त है अभेदेना एक रसत्व वक्षते अखंड एक रस रूपे न सर्वत्र वक्षित है स्तूयते स्तूयते शास्त्रेण व्यासादिश्च तादृश एकत्व की स्तुति शास्त्र के द्वारा और व्यासादि स्मृतियों में भी कहा गया है यच्चा सर्व प्राणी साधारण सगल प्राणियों में सामान्य रूपेण जो अनुभव हो रहा है क्या स्वाभाविक शास्त्र बहिष्कृत ही कुतार की कई विरचित ये शास्त्र से बहिष्कृत है शास्त्र बाह्य तत्वों को चिंतन करने वाले कुतार्किकों के द्वारा विरचित नाना दर्शन जो भेद दर्शन है उसको निंदित तो उसकी निंदा किया है श्रुति ने अर्गन नहीं निंदा निंदित निंदम निंदा निंदी की निंदन करने के लिए नहीं है हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि नियम यद निंदित तन निषिद्ध है जिसकी निंदा की जा रही इसका मतलब उसको निवृत्त करने के लिए ये न्याय है इसे नाना तो जो शास्त्र बहिर्भूत अर्थ होने के नाते उस शास्त्र में उसको निषेध किया निषेध करने के लिए उसकी निंदा है जन निंद तन निषिद्ध न्यायात ये न्याय युक्ति है कहा है ऐसा कौन शास्त्र है वो कभी शास्त्रों में बता रहे न तो तद द्वितीयम द्वितीय द्वी भयम भवदी ओ उदर मंत्र गुरुदय अथ तस् भयम भवदी कभी न तो तद द्वितीयम वह द्वितीय नाम का कोई वस्तु ही नहीं है विधि से भय होता है जो थोड़ा सा भी भेद बुद्धि कर लेता है उसके अंदर भय छा जाता है इदम सर्वम युदयम आत्मा मृत्यु से मृत्यु मापनवती यह नान अवश्य अद्वैत का कथन किया पहले इदम सर्वम युदय आत्मा जो कुछ भी है वो आत्मा ही है जो ऐसा नहीं मानता और यह जो साधक जो व्यक्ति यह अस्मिन आत्मनि नाना युव पश्यती भेद के समान एक लगता है समृत्या हो मृत्यु अपनति इशारे के मृत्यु से भयंकर मृत्यु होता अविद्या के जाल फंस जाता है इत्यादि वाक्य अन्य ब्रह्मविद भी इत्यादि वाक्यों के द्वारा श्रोतियों ने तो कहा ही है और प्रवृत्ता लोग भी अपने विभिन्न प्रकार से कथन किए हैं उसमें स्मृति का बहुत सुंदर दिया है तो वासदेव सरमित समाता सुरलभ हम्म? एक और स्मृति दिया हाँ, बहुत ही बढ़िया है अहम सरम इदम जनार्दनो नान्य कारण कार्य जागम मनो यश्चन तस् भूयो भवोद्भवा द्वंद गदा भवंती कहते हैं कि भाई देखो ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसको द्वंद से कारण से उत्पन्न होने विभिन्न प्रकार के जो भवरोग है वह प्राप्त नहीं होता कौन जो मोक्ष इस प्रकार का अनुभव कर लिया अहम एव हरि ही मैं ही हरि हूँ और सर्वमिदम मदविन्नम एव जनार्दन एवं सर्व जनार्दन नान्य किंचित अस्थि एतारश मत स्वरूप हरि से अभिन्न जनार्दन से अतिरिक्त वास्तव में कुछ भी नहीं है तथा कार्य कारण जातम जो कुछ भी कार्य कारण समूह है वह मुझ हरि आत्मस्वरूप होता जनार्दन से ही नहीं अभिव्यक्त अभिव्यक्त हो रखा है मनोवय जिसके मन की वृत्तियां इस प्रकार के निश्चय कर लेती हैं न तस्य भूयो उसका बारम्बार भो भोवा जन्म जन्मांतरों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती द्वंद गदा अभी न भवंती भी गदा जो रोग है भवरोग वह उसे स्पर्श नहीं कर सकता इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृतियां हैं एकत्व कथन करने वाली और अनेकत्व कथन करने वाली की निंदा अविद्या पुरुषा पुरुषाभिन्न दर्शन अविद्या से मोहित है अंतकरण जिनका ऐसे जो पुरुष हैं वे ही भिन्न दर्शी होते हैं किम देरण कृतम बापम चोरेण आत्महारिणा इत्यादि अरे उन्होंने ऐसे कौन से पाप नहीं किया है मैंने भयंकर से भयंकर पाप उसने अगर कर दिया गया मना लिया गया जो व्यक्ति आपका हरिणा चोरी तो ऐसा चोर है अपने स्वरूप को ये भूल गया स्वरूप का ही हरण कर लेने वाला है वो एक अतः ऐसा जो स्वरूप हरण करने वाला ये अज्ञानी रूपी जो चोर है उसने इससे बढ़कर पाप क्या कर सकता है यही सबसे बड़ा पाप है कि हम अपने स्वरूप को भूल रहे हैं इसे बड़ा और कोई पाप नहीं इत्यादि द्वैत की जबरदस्त निंदा किया गया है ये चैतन्य एवं ही समंजसम वह इस प्रकार की कथन है वह बिल्कुल समंजस एकत्व की स्तुति और जो द्वित्व की निंदा द्वैत की निंदा यह न्याय और श्रुति संगत ही है रिज्जोबोध न्याय मित्यर्थ बड़ा अनायास सरल सीधा साफ बात है सुखावासी अनायासी निश्चय किया जा सकता है क्योंकि न्याय युक्ति युक्ति संगत भी है न्यायाद अनवेदम यदि न्यायम यहाँ सुतार के परिकल्पित आपको दृष्टया अंतर्ज्य निरूप्यमाणा न घटनाम प्रवंचंती अभिप्राय और जो तारकों के परिकल्पित कुदृष्टिया है वे रिजो मार्ग नहीं है बड़ा के ठीक इस तो वेदांत के ग्रंथों में जहाँ तो न्याय को घुसा देते तो आदमी को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं पंक्ति और कठिन हो जाती है सरल पंक्ति कठिन करना है तो उसमें न्याय को घुसा देना और कुछ नहीं तो उमा फिरा इधर की कोलू का बैल जैसे नहीं हुआ घूमते रहते कुछ नहीं और अच्छे बता कर देंगे फंसा देंगे करेंगे कुछ नहीं अंत में मानना पड़ता है द्वेत को ही इसलिए कहते हैं उनके जो भी मार्ग है वो अनिज सुखपूर्वक निश्चय नहीं कर सकते बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है चाट जाता है बड़े बड़े आचार्य परेशान हो जाते हैं महाराज बताओ ये कैसे पंखी लगेगा हम कहते आपको भी तंग कर रहा है क्या न्याय है तो कोई बात नहीं चलिए देखते हैं न्याय की कितनी ताकत है लग जाते हम लोग भी उसमें तो ठीक हो जाता है सबका आचार्य लोग क्या बात है कल भी आए कैसे आचार्य जी मैंने कहा कोई बात नहीं आइए स्वागत है आपको फोन करके पूछे आने से पहले नहीं अरे ये नहीं आई फिर आ गई तो कहते हैं कि वो नहीं लग रहा है टीका नहीं लग रही है उन्होंने आपकी चिट्ठी कर दिया इसने तो तो भास्कर है नामी भास्कर है आपकी तो सूर्य है आपकी ज्ञान रूप प्रकाश को छोड़ी है ये क्या है न्याय है कुछ नहीं कहते हैं महाराज हम तो नाम से भाष करते तो चलो कई बार घंटा भर लगाया दिमाग ठीक हो गए खुश होकर चले गए न्याय ऐसे है सब न्याय वगैरह अंध जो मार्ग अनाया समझने का लायक गईज नहीं दिमाग चार जाते ही है वैशेषिक वैनाशिक आदि बना इत्यादि कदे निधानुसारी है उनकी अगर निरूपमाना न घटना प्राचंदी घटना मैंने संभावना न प्राप्त न करता उनके कथन तो संभाव संभव ही नहीं है वो असंभव की परिकल्पना में डूबे रहते हैं असंभव की सोच करते रहते हैं ये उनकी व्यवस्था है इसलिए स्मृतिकार करे यादे समृदय याश्च काश्च कुदृष्ट सर्वास्ता प्रीत्य तम मूलाहिता स्मृता यह वेद बाह्या स्मृतिया वेद बाह्य भूता द्वैतादि को प्रतिपादन करने वाली जितनी भी स्मृतियां हैं वेद विरुद्ध प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां काश को दृष्टि और जो कोई वेद विरुद्ध अर्थ को कथन करने वाली विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र है वे सभी के सभी सर्वात्मा निष्फला ये सब के सब मान लो प्रेत निष्फला होंगी मरने के बाद कोई फल देने वाले नहीं यहाँ तो नहीं है सुख शांति है मन को जो शांति मिलनी चाहिए मन को जो प्रसन्नता वो तो मिली नहीं पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए और मरने के बाद कुछ मिलेगा क्या वो भी नहीं ऐसे सब शास्त्र हैं जिनको पढ़ने से मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ तो मिला नहीं मरने के बाद भी नहीं प्रेत क्या निष्फला क्यों तमो बोला इतना स्मृता क्योंकि ऐसा ब्रह्म बोलक है तमो बोला ना ब्रह्म बोला है ये सारी स्मृतियां ब्रह्म बोलक स्मृतियां ये मनोवचन है न्याय से भी विरुद्ध है वो उसमें निरूपण माना अपनी न घटनाम प्रांचन बड़ी युक्ति से वो निरूपण करना चाहते बड़ा तरक दिए जबरदस्त अनुमान ही है जब इन्होंने अनुमान महाविद्या अनुमान जैसे अनुमानों को कर डाले जिसको समझना लगाना बड़ा कठिन होता है तो लेकिन वो भी साहब विफल ही रह गया निरर्थक ही हो गया सत्य भी लोग उपाधि स्तुम महाव्याधि पक्षता प्राणाघाती नहीं उपाधि तो महाव्याधि पक्षता जो तो है धाराघाती और क्या है नम आय मत कवित्वापहारे प्रामाण्यवाद की जाए चर्चा छेड़ देते तो बड़ा मुश्किल हो जाता तो उसको दूर से नमस्कार कर देना पड़े इधर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा मत कर तो आप हर ऐसा कहते तो ऐसी कठिन चीजों को बना दिए लेकिन वो भी संभावना को प्राप्त नहीं करता नम श्रुतिया भी जीव परमात्मा हो पृथक तुम प्रावत्ते है उत्पत्त्यर्थोपनिषद वाक्य पूर्वान था कर्म कांड पूर्व पक्षी कहता है कर्म कांड में तो जीव और आत्मा को अलग अलग परमात्मा को अलग किया हुआ है उपासना कांड में भी जीव और ब्रह्म के अलग अलग कथन है और भेद पूर्व के समस्त कर्म का अनुष्ठान उपासना करने का विधान कर दिया और उनकी संख्या भी ज्यादा है बहुमत के हिसाब से चलो वोटिंग पड़ेगा तो, छियानबे हजार है हमारे ज्ञान कांड में चार हजार वोट पड़ेगा क्या होगा हो जाओगे हारना ही पड़ेगा ना फिर ये पूरा वेद में चार हजार मंत्र केवल ज्ञान वर्ग है और छियानवे हजार करोड़ उपासना पर अस्सी कर्म है सोलह उपासना छियानवे दरवाज नहीं हुआ और चार हजार ज्ञान वोट किसकी ज्यादा होगी वोट वाली होंगी आज की वोट सिस्टम के हिसाब से तो ज्ञान का ज्ञान कांड वाले हार जाएंगे तो चार हजार वोट पड़ेगा अज्ञानी <laughs> होंगे तो दौड़ता है पूर्व पक्षी कहता है वो सब ने जो जीव और परब्रह्म को अलग अलग करके दफन किया और आप अभेद अभी चिल्ला रहे हो वही कैसा होगा श्रुति प्रतिभूत बात कह रही है इसका मतलब मन श्रुतिया भी श्रुति के द्वारा भी कार्यक्रमिका जीवात्मनो पृथक्तम युपत्तो हेत्रकीर्तितम भविष्य वृत्तिया गौनंदम मुख्यत्म ही न युज्यते जीवात्मनो पृथक्तम यत्पत्त्य से उत्पत्ति है प्रकीर्तितम प्रागत्म उत्पत्त्यर्थ जो उपनिषद वाक्य है उनसे पूर्व में जो कर्मकांड वर्ग और उपासना कांड वर्ग जितने भी वाक्य है उन वाक्यों ने तो स्पष्ट ही जीव और ब्रह्म का भेद जीव और ईश्वर का भेद कोई कथन किया है तो सिद्धांत विद गौरम तक भेद कथन गौण है तो गौण कैसे भविष्य भविष्य में जो एकत्व का कथन किया जा रहा है उसकी दृष्टि से यह गौण कथन मानना पड़ेगा तम मुख्यतम ही नहीं जत इसलिए क्योंकि वेद के अंदर मुख्यत्व को आप कथन नहीं कर सकते पर पहले हम एक दृष्टांत से विचार करके समझ चुके हैं जो पंडित जी का कहानी बनारस में छात्रार्थी ध्यान है ना भंगी को ले गए साथ में महात्मा जी तो वहां बैठ गए बोले कि भाई बोला वो शास्त्रार्थ कर रहे और भंगी क्या जाने पंडित बना के बिठा दिया लेकिन जब सारी बात हुई जाकर प्रणाम किया महाराज जी ने इस पंडित महाराज को तो भागने लगा ताकि महाराज जी क्या कर नरक में डाल दोगे मेरे को प्रणाम करोगे आप अभी गुरु है संत है ब्राह्मण है हम तो भंगी का तो उसके क्या देखा आपने क्या देखा इधर भले के पर्यंत जो है ये शास्त्रों को न पढ़ा हुआ भी द्वैत प्रसिद्ध है यदि उसी का श्रुति पदार्थ प्रतिपादन करे फिर श्रुति व्यर्थ है जो आप हमारा हाल का पर्यंत सुप्रसिद्ध द्वैत है उसी का प्रतिपा श्रुति भी करती है तो श्रुति का श्रुतित्व ही समाप्त हो जाता है वेद का वेदत्व नष्ट हो जाएगा वेद की वेदत्व यही है कुमार भट्ट उद्घोषणा कर दिया जो प्रत्यक्ष यस्तो न बुद्यते एनम विदंति वेदेन तस्माद वेदता प्रत्यक्ष अनुमान आदि विभिन्न उपायों के द्वारा जिस तत्व के स्वरूप को हम जान नहीं सकते हैं उन तत्वों को जिस वेद से हम जा रहे यही वेद की वेदता है न तो वेद का वेदत्व निरर्थक हो जाएगा इसलिए वेद के वेदत्व की रक्षा के लिए आपको मानना पड़ेगा जो सुप्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध जो द्वैत है ये ही प्रतिपादन करना स्वर्ग का लक्ष्य नहीं है किंतु इसको अपवाद करने के लिए द्वैत जो लोग प्रसिद्ध है उसको श्रुति केवल अनुवाद करती है अनुवाद करके मध्य मध्यम अधिकारी मंद और मध्यम अधिकारियों पर कृपा करते हुए कर्म और उपासना का वर्णन किया है श्रुतियों ने ताकि ये बेचारे धीरे धीरे करते करते उस अद्वैत स्वरूप को अनुभव कर सके श्रुति का मुख्य लक्ष्य सभी को वहां पहुंचाना लेकिन सबको सीधा केवल वेदांत का कर श्रुति पहुंचा नहीं सकती है ये सभी उसके योग्य नहीं है इसे अधिकारी भेद को देखते हुए आश्रम भेद व्यवस्था करते हुए वर्ण भेद व्यवस्था करते हुए श्रुतियों ने सभी को अवकाश दिया धीरे धीरे तुम भी आ जाओ भाई इस लाइन में लग जाओ जो भी जन्म लिया किसी को भी निराश होने नहीं देता है नहीं जो भी जन्म लिया है जहाँ भी जन्म लिया है जैसे भी जन्म लिया है वहीं से उसका जो कार्य आरम्भ हो जाएगा वहाँ से कुशीनगर एक स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध के समाज स्थल है शरीर छोड़ा था वहाँ एक बार बड़ी शास्त्रार सभा जैसे लग गई वेद और बौद्ध अंतर क्या है मुख्य रूप से सब सिद्धांत तो बराबर है अहिंसा परमो धर्म तुमने कहा है तो हमारे यहाँ तो हर जगह अहिंसा घुसा दी है कहा नहीं है यही से उन्होंने लिया तो फिर अंत में तय होगा कि भाई देखो अंतर इतना है बौद्ध और वेद में बौद्ध सिद्धांतों में आम आदमी के लिए कोई गतिविधि नहीं वर्णन किया गया कोई विधि विधान नहीं आम आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहे कैसे करे धन दौलत चाहता हो तो क्या करो कुछ भी विधि नहीं है उनके यहाँ क्योंकि संतान चाहता है क्या करें कोई विधि नहीं हमारे यहाँ तो प्रजा का यज्ञ वर्णन किया है तो की कामना है देखिए वर्णन किया है धन की कामना है पशु की कामना है सबके लिए यज्ञों का वर्णन किया लौकिक फलों की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हमारी व्यवस्था है अलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था दी गई है और पारलौकिक जो कामना है स्वरूपानुभूति तक के लिए सब व्यवस्था दिया गया स्मृतियों लेकिन तुम्हारे यहाँ सीधे